अब हम वेद का संदेश समझने समझाने का प्रयास करें आपने सुना है कि जैसा व्यक्ति का ज्ञान होता है वैसा ही वह विचार करता है वैसा ही वो बोलता है वैसा ही वो कर्म करता है आगे बढ़ो तो फल भी वैसा ही पाता ईश्वर के प्रति जितना हमारा ज्ञान शुद्ध दृढ़ होगा उतने ही हमारे विचार भी दृढ़ होंगे उसके अनुरूप हम वाणी से बोलेंगे और फिर आचरण वैसा ही करें इस मंत्र की व्याख्या आपने पढ़ी महर्षि दान की लिखी हुई उसमें से कुछ अंश को आपके समक्ष रखता हूं इस मंत्र में एक शब्द है वैश्वान विश्वान नरान नयति संचालयति नेतृत्व इति वैश्वान पूरे संसार के नरों को मनुष्यों को जो मार्ग दिखाता है उनका नायक नेता है उस ईश्वर का नाम वैश्वान है ईश्वर पूरे संसार के मनुष्यों को मार्ग दिखलाता है कौन सा ज्ञान कर्म उपासना हमको करना चाहिए कौन सा ज्ञान कर्म उपासना नहीं करना चाहिए इसको बताता है आवृत्ति कर लो और कौन सा ज्ञान धर्म और उपासना एक तीनों मत पूर्व की विश्व की जगत की रूपरेखा सामने आ जाती है अर्थात ज्ञान कहने से विद्याओं का क्षेत्र पूरा छू लिया जाता है और कर्म कहने से सारी क्रियाएं ले ली जाती है उपासना से योगाभ्यास और भक्ति संग्रहित हो जाती है इन दोनों विभागों में ईश्वर हमको विद्या का स्वरूप ज्ञान का स्वरूप बताता है इसलिए हमारा नायक है हमारा नेता है हमारा गुरु है आपने सुना होगा भाई कई बार ये चर्चा आ जाती है गुरु बड़ा या ईश्वर कौन सा बड़ा होता है अच्छा आप गुरु को ईश्वर से बड़ा नहीं मानते अच्छा जो मानते हैं हाथ खड़ा करो हाँ ऊपर करो अच्छी तरह एक दो तीन चार पांच छह सात तो हाँ धन्यवाद जो ईश्वर को गुरु से छोटा और गुरु को जो ईश्वर से बड़ा मानते जो गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते हैं हाथ करा करो फिर करो करो कोई बात नहीं जो गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे अच्छी तरह करो डरने की बात नहीं यहाँ डरने की बात नहीं है ये इतने लोग अच्छा अब जो ईश्वर को बड़ा मानते हैं गुरु से अच्छा जो समझ ही नहीं पाए कौन बड़ा है वो हाथ खड़ा करो भी बात बन जाने से स्पष्ट हो जाएगी बात अब उत्तर ये है कि आरंभ करो विशुद्ध सत्य और असत्य को जनाने वाला गुरु महान है सच्चा गुरु महान है हम उसको महान मानते हैं परंतु ईश्वर भी गुरु है और महान अब दोनों की तुलना यदि करने लगे तो शरीरधारी गुरु इस ईश्वर के समक्ष एक नाम मात्र का व्यक्ति है छोटा सा बड़े की बात तो छोड़ दो क्या समझे आप भूल हुई कहीं की चली लोगों उन्होंने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरुओं ने बड़ी चालाकी चली और वो गुरु थे भी नहीं ये सारी बागडोर हाथ में मुक्ति की मोक्ष की अपने हाथ में लो और इनको कहो गुरु ईश्वर से मिलाता है इसलिए गुरु बड़ा होता है जिसे ईश्वर को दिखाता है तो वहां पर फूल छल कपट का प्रयोग हुआ करोड़ों लोगों को झूठे गुरु देधारियों ने शिष्य शिष्याएं बनाए और सारा धन संपत्ति अपने अधिकार में लिया और माला माल हो गए और भारत को बिल्कुल भेड़ों जैसी गति बना के रख दिया भेड़ चाल बना के रख ये चालाकी लोगों ने आज भी है हम आबू पर्वत पर गए अपने दर्शनाचारी विवेक भूषण जी आदि सारी बातें होती रही बड़े से बड़े योग्य व्यक्ति स्त्री पुरुषों से मिलते रहे अपने दर्शनाचारी विवेक भूषण जी कहने लगे एक बात समझ में आई क्या ये अपनी बात तो कहते हैं पर दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनते क्या समझ में आया सब ने ये कहा अपनी तो कहो और किसी की मत सुनो इनको बांध के रख दिया और ये जकड़े हुए भारत के लोग दूसरे की बात नहीं सुनते तो सामने रखो ऋषियों की बात को ध्यान दो सय पूर्वे शांति गुरु काले नव छेदार क्या समझे ये जो परमात्मा ने ऊपर वर्णन किया है ये सारे गुरुओं का गुरु है भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल में जितने गुरु रहते हैं हो सकते हैं सबको विद्या पढ़ाने वाला और जो उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करता उससे विद्या लेकर के समाधि का अभ्यास करके हमको जो पढ़ाता है वह भी गुरु है महान है क्या समझे आप ऐसे भी मत कर देना कई लोग कहते हैं वाह ईश्वर गुरु है देहधारी को गुरु हम मानते नहीं ये भी एक मूर्ख मंडल इकट्ठा हो वो देहधारी सच्चे गुरु को भी गुरु नहीं मानते अब बताओ क्या करोगे और ये देहधारी को गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते दोनों के दोनों नैया के बीच में गोते लगा रहे अच्छा चलो वेद मंत्र में ईश्वर ने स्वयं को समझाने का प्रयास किया है क्या किया है ईश्वर स्वयं को बताने के लिए बहुत प्रयासशील है आपको ज्ञात कर लेना चाहिए कि ये ईश्वर स्वयं को बताने के लिए प्रयासशील क्यों है ये इसलिए है कि जीवात्माएं उसको समझ के उसको प्राप्त करें और समस्त दुखों से छूट कर नित्य आनंद को प्राप्त कर लेंगे इसलिए ईश्वर का प्रयास और ये संसार के लोग ईश्वर की ओर पीठ करे बैठे हैं मुंह भोगों की ओर है और पीठ ईश्वर की ओर इनको इस बात का पता नहीं कि यदि ईश्वर को न जाना प्राप्त नहीं किया तो क्या क्या दुख भोगने पड़ेंगे इसको ये भूल जाते यह सृष्टि कितनी लंबी चौड़ी है आज तक इसको कोई भी नहीं जान पाया और आगे जानने की संभावना भी नहीं है कितनी लंबी चौड़ी एतावान् अस्य महिमा इतनी एतावान इतनी महिमा इस सृष्टि का इतना विस्तार है इतना बल है इसमें इतनी विशेषताएं हैं इसमें इतने प्रकार के प्राणियों की रचना है इसमें कितने लोक लोकांतर हैं ये रात्रि में आकाश में दिखता आपको बाजार सा गया हुआ अंधेरे में देखा कभी है जी है ना ऐसे ऐसे बाजार इस कोने से लेके इस धरती के छोर देखा ना बताया जाता है उसी क्षेत्र में आकाश गंगाएं कहलाती हैं बड़े बड़े क्षेत्र आकाश गंगाएं और कुछ मुझे याद है जितना सुनाता हूं जैसे एक आकाश गंगा में कितने दस अरब सूर्य है क्या समझे हाँ जी पीछे वाले सुन रहे हैं क्या कितने हैं एक आकाश गंगा में दस अरब सूर्य एक सूर्य के ग्रह फिर उपग्रह एक एक सूर्य और ऐसी ऐसी दस और अब आकाश गंगा वैज्ञानिकों ने खोज ली दस अरब और ईश्वर कहता है सुनो ये इतनी महिमा सारे वैज्ञानिक इसमें मोहित हैं खोज नहीं कर पा रहे थक चुके हैं ये जो इतनी महिमा देख रहे इतना लंबा विस्तार एतावान अतो जायाश्च पुरुषः इससे पुरुष तो बहुत बड़ा है क्या समझे आप ईश्वर तो इससे बहुत बड़ा है इससे बड़ा और ये लोग कहते हैं कि भाई अवतार लेके आता है जब जब अधर्म की हानि होती है और कभी कछुए का कभी मछली का कभी फलाने का अब बताओ इनको कौन समझाए इस बात यदि भारत के लोग ईश्वर को ठीक समझ लेते उसकी भक्ति करते और आज्ञा पालन करते तो आज भी भारत देश होने की चलिया होता निश्चित है ये ईश्वर के जानने मानने ईश्वर की भक्ति करने से गुण आते हैं व्यक्ति आप इतने दिन तक रहेंगे पता नहीं आप में कुछ आएगा नहीं आएगा बताओ तो आएगा या पंद्रह झार बन के चले जाओगे यहाँ कुछ सीख के जाएंगे कुछ उपासना में बैठेंगे कुछ नियम बनाएंगे पत्नी की रुचि नहीं और वो कहती है चले गए हम नेता तेरे चले जाए वो चाहती नहीं थी कल्पना करो और फिर ये ध्यान में बैठने लगे फिर स्वाध्याय करने लगे फिर उस और कम समय लेने लगे तो इस पर डांट पड़ती है बन गई भगत घर का घर का काम घर का काम छोड़ दिया ये कांपने लगते बेटा नहीं नहीं मैं इतना नहीं करूंगा कोई बात नहीं ईश्वर को भूल गए पत्नी से डर गए अब बताओ क्या करें एक आवादस्य महिमा ये इतनी बड़ी महिमा ईश्वर कहते तो ईश्वर इससे कितना पादो विश्वा विश्वाभूतानी समझने के लिए ईश्वर के चार पादों की कल्पना की गई क्या किया गया समझाने की दृष्टि से चार विभाग बनाए यद्यपि ईश्वर के चार विभाग हो नहीं सकते फिर भी समझाने के लिए कल्पना करके कहेंगे चार भाग मान के चलो पाद ऐसे नहीं ये जितना भी विश्व दिखाई देता है पृथ्वी आदि ये ईश्वर के एक भाग में रहता है तीन पाद खाली पड़े ईश्वर के इतना बड़ा संसार जिसको जाना नहीं जा रहा ये ईश्वर के एक भाग में रहता और तीन भाग ईश्वर के खाली पर ये भी समझाने की दृष्टि से पादो अस्य विश्वाभूतानी त्रिपाद अश्य अमृतम जीवित तीन पाद अमृतमय जीव लोग अत ईश्वर के स्वरूप में ही रहते हैं जब आप ईश्वर का ध्यान करें ईश्वर की भक्ति करें तो ये वेद मंत्र के भाव को देखो ईश्वर कहता है संसार के लोगों ये जितना भी संसार दिखाई देता है कितना लंबा चौड़ा है ये केवल मेरे एक ही किसी अंश में रहता है पूरा का पूरा ऐसा मान के भक्ति करना आप ध्यान देंगे ईश्वर के और हमारे कितने संबंध हैं आपको सुनाए हैं कौन से पहला संबंध क्या है ईश्वर हमारी और हम बोलना सीख लो ईश्वर का और हमारा दूसरा संबंध हम ईश्वर के ईश्वर का और हमारा तीसरा संबंध ईश्वर का और हमारा चौथा संबंध ईश्वर का और हमारा पांचवा संबंध हमारी गणना में उपास्य को भाग को चौथे में लेते हैं और पांचवे को ईश्वर हमारा राजा है हम ईश्वर की और सुनो ये संबंध तो ये है एक संबंध और है उसको याद रखिए आप उपासना उसका प्रयोग होता है ईश्वर सर्वव्यापक है हम जीवात्माएं और प्रकृति और पूरा संसार व्याप्ति है ये व्याप्य व्यापक संबंध है दोहराओ जब आप उपासना में बैठे उस समय इसका प्रयोग करें करें क्या ईश्वर सर्वव्यापक है हम जीवात्मा जाते हैं जहाँ हम है वहाँ ईश्वर विद्यमान है जहाँ हम नहीं है सत्वर जगतम जाते हैं ईश्वर व्यापक जहाँ सत्वर जगतम है वहाँ ईश्वर विद्यमान है और जहाँ सत्वर जगतम नहीं है वहाँ भी ईश्वर व्यापक पूरी सृष्टि जहाँ विद्यमान है वहाँ ईश्वर विद्यमान है जहाँ सृष्टि नहीं है तीनों वर्गों को व्याप्य और ईश्वर को व्यापक यदि ऐसा समझ के उपासना व्यक्ति करता है तो मन अधिकार में आ जाता है प्रयोग करके देख लो अब विराम